प्रतिष्ठिता मनोमेवाचिप्रतिष्ठितम् आविराहुर्मलेधि वेदश्च मानैस्तः श्रुतं मे महाप्रहासी सत्यं वदिष्यामि

अंतर्गत आरण्य है उसके द्वितीय आरण्य के चतुर्थ पंचम ष्ठ तीन अध्याय को ऐत्रीय उपनिषद कहा गया है इसके पूर्व में जो कुछ बातें हुई कर्म और उपासना संबंधी चर्चा की गई है ये उपनिषद आरंभ होने के पूर्व में जहां यहां मंत्र आरंभ होगा आत्मा वही इधम अग्रे एक आशी नान्यत किंचन विशत स ईक्षत लोकाम सृजई ऐसा मंत्र आरंभ होगा तो इस मंत्र के पूर्व में जब देखा पूर्वारण्य में देखा हम तो द्वितीय आरण्य के चतुर्थ अध्याय से बैठेंगे पूर्व में देखा कर्म और उपासना की चर्चा हो गई है उसका फल भी बता दिया कर्म और उपासना कर्म सहित उपासना का फल हिरण्यगर्भ की भाव की प्राप्ति समस्त सूक्ष्म शरीर के पुंज भाव की प्राप्ति ये फल भी बता दिया है किंतु कुछ लोग जो कर्म और उपासना में आसक्त हैं तो वो लोगों का कहना है यही हिरण्य गर्भ की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है इससे आगे कुछ नहीं है यही मोक्ष है ये सब मोक्ष यही मोक्ष है ऐसे कुछ लोगों की धारणा है उन मत का खंडन करना है ऐसे हिरण्य गर्भ के अनुयायी जो लोग हैं माने उसी में उनका आग्रह बैठा हुआ है उस मत का खंडन करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ होता है करने जा रहे हैं आत्मा वही एकदम अग्रयास ये कर्मोपासना संबंधी नहीं कर्म संबंधी आत्मा की चर्चा नहीं अकर्म संबंधी आत्मा की चर्चा के लिए कहा जहां कर्म का संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान होगा वो आत्मा का फल आत्मभाव की प्राप्ति करने के लिए आगे के मंत्र हैं ये भाष्यकार का कहना है ये कहा तो पूर्व पक्ष आकर के खड़ा हो गया है कथम पुनर् अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थम उत्तरोपलब्धि की बनते ये पूर्व पक्ष ने शंका उठाई ये कैसे मालूम पड़ता है कैसे जाना जाता है ये कि अकर्म संबंधी आत्मा कर्म के अभाव पूर्वक जो आत्मा का कर्म जहां नहीं है अकर्म सम, कर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधान के लिए शुद्ध आत्मा के विधान के लिए ज्ञान के लिए आत्मज्ञान के लिए आगे का ग्रंथ बने आत्मा वही इत्यादि जो ग्रंथ आने वाला है वो तो ग्रंथ कैसे जाना जाता है ऐसा पूर्वादि की शंका क्योंकि जब भी आत्मा का ज्ञान होता है सविशेष रूप से ज्ञान होता है अहम मनुष्य अहम का ज्ञान हो रहा है क्योंकि मतलब मनुष्य तो विशिष्ट होकर खाली अहम का ज्ञान होता ही नहीं निर्विशेष आत्मा का ज्ञान के लिए आगे का जो मंत्र है कहना चाहते हैं वो कैसे हो सकता है ये शंका है सिद्धांत कहते हैं जब वेदांत वेद वाक्यों का जो निर्णय तात्पर्य कर लेना हो माने एक प्रकरण का सारांश लेना हो या यह महाप्रकरण का तात्पर्य लेना हो तो षडलिंग ग्राहक प्रमाण होते हैं उपक्रम उपसंहार आदि जो षडलिंग को देखते हैं यहाँ आत्मा वही से लेकर के आगे जब देखते हैं तो ये अकर्म संबंधी केवल आत्मज्ञान के लिए आगे के वाक्य सिद्ध होता है यही सिद्धांत कह रहे हैं अन्यर्थ अनवगमात ये सिद्धांत को से अन्य अर्थ यहां नहीं दिखाई पड़ता सविशेष आत्मा कर्म संबंधी आत्मा के लिए आगे के वाक्य है ऐसा ज्ञान नहीं होता आगे के वाक्य पढ़ने से जो आत्मा भाई वगैरह आशित आदि वाक्य पढ़ेंगे ये तीन अध्याय हैं यहाँ चतुर्थ पंचम ष्ठ उपनिषद क्रम से प्रथम द्वितीय तृतीय होगा आरण्य क्रम से चतुर्थ पंचम ष्ठ अध्याय इसमें निर्विशेष आत्मा का प्रतिपादन है क्यों अन्य अर्थ सविशेष आत्मा संबंधी चर्चा नहीं है ठीक है तथा च इसलिए पूर्वोक्ता नाम देवता नाम अग्नि आदि नाम संसारित हम पूर्वोक्त देवता जो द्वितीय आरण्य में बताया था जो देवताओं अप्यति कहा था मंत्र था तस्य प्राण से आत्मभाव गच्छन देवता अप्यति इत्यादि जो था पूर्वोक्त देवता नाम अग्नि आदि नाम जो अग्नि आदि देवता है संसारित तुम पूर्वोक्त देवता जितने भी थे सविशेष रूप से वो उसको संसारी तो दिखाएगी आगे स्थिति क्या बोलेगी असनाया है ना भूख प्यास से ग्रसित दोष दिखाएंगे ये भूख प्यास से पीड़ित हो गई देवता ऐसा कहेंगे आगे असनाया है ना संसारी तुम दर्शन सकी संसारी है असंसारी आत्मा नहीं दिखाएंगे देवता भाव को प्राप्त हो देव भाव को प्राप्त हो हिरण्य को पर होता क्यों मंत्र आएगा आगे तम पास आभ्यम अन्नवाजत कहते हैं सर्वप्रथम उस परमात्मा ने एक उस जल से तो निकाल करके एक पुरुष बनाए शरीर बनाए जिसको विराट संज्ञा दी गई है तो वो विराट में जो देवता आश्रित थे अग्नि आदि देवता अग्नि बाघ भूतवा भूकंप प्राविशत आदि आएगा जो तो इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता थे उनको भूख प्यास से युक्त हो गए भूख प्यास से जोड़ दिया तम देवताओं उस देवताओं को उस पुरुषम जो तो विराज पुरुष है उसको असना अनुवादत ये प्रथम अध्याय में आएगा आरण्य क्रम से चतुर्थ अध्याय होता है उपनिषद का से प्रथम अध्याय उसी में ऐसा मंत्र आने वाला है पूर्वोक्त तो देवता की चर्चा करते थे देवता को क्या किया भूख प्यास से युक्त करा दिया ऐसा वाक्य आएगा असनायदि मत सर्व संसार एवं असनायादि सर्व मत सर्वम संसारे एवं जो ये असना पिपाशा आदि धर्म है संसार में ही है उस शुद्ध आत्मा में नहीं है जो संसारी आत्मा होगा उसी में होगा ये जो तो जीव भाव में बैठा होगा जब तक तभी तक भूख प्यास आदि धर्म है क्यों तो दूसरे का धर्म अपने को मानता है कौन जीव भाव में है जब तक प्राण का धर्म होता है भूख प्यास वो अपने को मान बैठा है ये संसार अवस्था में है असनायादि सर्वम असनायादि जितने भी असना पिपाशा आदि जितने क्षुदा पिपाशा आदि धर्म है अन्य का धर्म अन्य में आरोप करता है कब करता है संसारी अवस्था में करता है जीव भाव में होता है सब सर्वम संसारे एवं संसार में ही है ये ये सप्तमंत है अय आदेश रहता है ये संसार में ही है परस्य तो क्यों अकर्म आत्मा है शुद्ध आत्मा है परमात्मा है परस्य तो ब्रह्मणो जो पर ब्रह्म है उसको असनय आदि अत्यय श्रुत है उसके लिए असनय आदि भूख प्यास से अतिक्रमण कर गया बोलते हैं वो भूख प्यास नहीं होता जब तक हम प्राण को अपना स्वरूप मानते हैं यानी अन्य को अन्य में अन्य दृष्टि करते हैं आरोप करते हैं प्राण समझ के अपने को चल रहे हैं तब तक भूख प्यास अपने को मानते हैं हम जब प्राण को हम अपने से अतिरिक्त कर जाते हैं मैं प्राण नहीं हूं ऐसी स्थिति में भूख प्यास वाले नहीं होते हैं दूसरे का धर्म दूसरे में नहीं आता यही कहा ऐसा बताएंगे क्यों उसके लिए कहेंगे आगे यो असना असनाया पिपाशे शोक मोहम जरा मृत्यु अत्यति जो आत्मा ऐसा आत्मा है भूख प्यास जरा मृत्यु आदि उर्मी को पार कर जाता है जिसमें उर्मी नहीं तो सुख दुख भी नहीं भूख प्यास भी नहीं जरा मृत्यु भी नहीं जो उर्मी बोलते हैं जैसे उर्मी कहते हैं तरंग को आने जाने वाले वैसे ये सड़ उर्मी संसारी आत्मा में होता है भूख प्यास ये होते रहते हैं आना जाना चलता रहे थोड़ी देर में तृप्ति हो गई थोड़ी देर में फिर शुरू हो गया तो उर्मी माने तरंग है तरंग के समान है इसलिए उर्मी कहा भूख प्यास जरा मृत्यु भी ऐसे ही है वृद्ध होना मरना एक बार की नहीं कई बार आए कई बार गए आगे भी ये चलना है उर्मी है तरंग है सुख दुख भी ऐसा ही है एक आएगा दूसरा जाएगा एक आएगा दूसरा जाएगा कोई ना कोई रहेगा तरंग के समान होते हैं ये इसलिए इनको उर्मी कहा गया है वो क्षण को पार कर जाता है कहा वहां तो तस्य यो असनाया पिपास शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यति ऐसा मंत्र माने मिलेगा आपको उसके लिए तो ऐसा कहा है परमात्मा को तो वहां भूख प्यास आदि धर्म नहीं माना है जब तक भूख प्यास आदि धर्म में बैठा है वह संसारी आत्मा है तो उसको भूख प्यास से युक्त कर दिया ऐसा आएगा इसलिए कहते हैं परस्य तो ब्रह्मणो आदि अत्यस्थित है परमात्मा जो परब्रह्म है उसमें तो भूप्यास प्यास आदि का अतिक्रमण दिखाती है यहां तक यह सिद्धांत है इसके आगे पूर्वादि बोलता है भगवत ये एवं ठीक है निर्विशेष आत्मा के प्रतिपादन के लिए आगे का व्याख्या करना चाहते हैं आप आगे का ग्रंथ का प्रतिपादन करना चाहते हैं ठीक है मान लेते हैं असंसारी आत्मा का प्रतिपादन करना चाहते हैं इसके लिए आगे का मंत्र का व्याख्या करने की इच्छा है आपको भवतु एवं ठीक है केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधन हम कह रहे थे उपासना और कर्म ही मोक्ष का साधन है यह हमारा कहना था आपने कहा वो मोक्ष का साधन नहीं है भूख प्यास से अतिक्रमण नहीं होता वो जो मोक्ष है गर्भ भूख प्यास वाला होता है इसलिए उसका अतिक्रमण करने को कहा है इसलिए हम मानते हैं केवल आत्मज्ञान केवल निर्विशेष आत्मज्ञान जो होगा वो मोक्ष का साधन मानते हैं भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधन हम मोक्ष का साधन शुद्ध आत्मा का ज्ञान मान लेते हैं चलो आपने कहा मानते हैं किंतु न तो अत्र अकर्म एवं अधिक्रियते वो सन्यासी जो आत्मा होगा कर्म में अधिकार नहीं जिसका अकर्मी आत्मा अकर्म संबंधी आत्मा ही अधिकारी नहीं होता इसके लिए कर्मी आत्मा भी होता है आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है उपासना कर्म नहीं किंतु अकर्मी आत्मा ये इसका कर्ता नहीं होगा न तो अत्र अकर्मी एवं अधिक्रिय थे अकर्मी जो आत्मा होगा निष्कर्म आत्मा जिसने कर्म छोड़ दिया है वैसा आत्मा ही अधिकार नहीं विषय नहीं होता क्यों विशेष असर पड़ा सन्यासी को ही आत्मज्ञान होगा जो कर्म त्याग दिया अकर्मी आत्मा जो होगा जिसमें कर्म का अभाव है जिस आत्मा में वैसा कोई पद नहीं मिलता शब्द नहीं मिलता आगे के मंत्र जब विचार करते हैं अकर्मी आत्मा को ही आत्मज्ञान होता है ऐसा विशेष शब्द नहीं सुनाई पड़ता है विशेष अस्त्र हाँ, पूर्वादि बोलता है विशेष शब्द है ही नहीं अकर्मी आत्मा का ही संबंध होता है करके केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है मान लिया हमने किंतु जो अकर्मी आत्मा को ही अधिकार है आत्मज्ञान में ऐसा शब्द तो नहीं है विशेष शास्त्र सामान्य है केवल आत्मज्ञान जिसको हो जाए वो मोक्ष हो जाएगा तो गृहस्थास्त्र में रहते रहते आत्मज्ञान हो मोक्ष हो गया किसके लिए संन्यास धर्म का वो करना संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं पूर्वाधि है अकर्मिण आश्रम से आश्रम तरह से यह श्रवणा अकर्मी जो आश्रम है मैंने संन्यास आश्रम जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मिणा आश्रमी अंतरश्य जो अकर्मी अन्य आश्रमी है मैंने संन्यास आश्रमी है सन्यासी है यश यह आश्रम इस उपनिषद में नहीं सुनाई पड़ता है कि सन्यासी का ही अधिकार होगा ऐसा तो नहीं है गृहस्थाश्रम में रहते रहते हो जाएगा ऐसा आत्मज्ञान हो जाए मोक्ष हो जाएगा ये कहना है कर्म तो और कर्म की बात है यहाँ सांगिध्य में कर्म है जहां पर आत्मा वही इदमग्रे आशित इत्यादि वाक्य आने वाला है उसके पहले में कर्म की चर्चा है यहाँ जब हम आरण्यक में देखते हैं तो कर्म का बृहति सहस्त्र लक्षण बृहति सहस्त्र नाम का कर्म है महान कर्म है प्रस्तुत उन कर्मों का आरंभ करके में एवं आत्मज्ञान प्रारंभ थे उसके बाद ही आत्मा भाई एक अग्रे आशित आदि वाक्य पहले कर्मों की चर्चा है उसके आगे मंत्र आने वाला है तो ये मैंने कर्म करने वाला का ही अधिकार होगा ना इस आत्मा के साथ पूर्व में कर्म की चर्चा है गृहति शास्त्र लक्षण कर्म का चर्चा है इस जो उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं इसके पूर्व वहां आरण्य देखते हैं कर्म की चर्चा है कर्म का कर्म जब बृहति शास्त्र लक्षण बृहति शास्त्र नामक जो कर्म है प्रस्तुत के उसके प्रारंभ करके अनंतर में उसके तुरंत ही कर्म की चर्चा होते होते अनंतर में आत्मज्ञान प्रारंभ आत्मज्ञान का आरंभ होता है या आत्मा वहीतम तो अग्र आश्रित उपनिषद भाग आरंभ होता है इसलिए जो कर्म कर रहा था वही तो आत्मज्ञान में अधिकारी होगा मैंने क्या होगा गृहस्थाश्रम ही होगा यही आएगा अर्थ से तस्मात अकर्मी एवं हाँ, तस्मात कर्मी एवं अधिक्रियत इसलिए कर्मी ही इस आत्मज्ञान में अधिकारी है आगे के जो आत्मज्ञान के प्रसंग है पूर्व में कर्म की चर्चा है तो उसके अनंतर यह वाक्य आ रहा है आगे वाला तो इसलिए कर्म ही माने में ही इसका सन्यासी अधिकारी नहीं है आगे के प्रसंग में ऐसा पूर्वादि ने कहा पूर्वादि और भी बोलेगा पूर्व पक्ष लंबा है यहां उसका बहुत सारे वाक्य आएंगे अब टीका से देखिए टीका में कहते हैं ननु आत्मा भाई इदम इत्यादि कथम केवल आत्म विषय पूर्वादि ने समझा किया जो आत्मा भाई इदम अग्रे आशीर्द आदि वाक्य आएगा केवल शुद्ध आत्मा को विषय कैसे करेगा क्यों सईमान लोकान असृजत वाक्य आएगा अगला अगले मंत्र वो बोलेगा उस आत्मा ने क्या किया लोगों की सृष्टि की लोक सृष्टि करने वाला आत्मा सविशेष होगा कि निर्विशेष होगा कुछ काम करता है जो सविशेष मनुष्य होगा कुछ काम करेगा केवल आत्मा तो कुछ काम नहीं कर सकता सविशेष आत्मा की चर्चा आ तो कैसे निर्विशेष की चर्चा हो सकती है पूर्वाधिक क्षमता है ननु आत्मा वही इदम इत्यादि कथम केवल आत्म विषय केवल आत्मा का विषय कैसे कर सकता है वाक्य सही महान लोकान सृष्टि सारे लोगों की सृष्टि की कहा जिसने यदि लोक सृष्टि प्रतीत है लोक सृष्टि की प्रतीति हो रही है यहाँ अगले मंत्र जब देखेंगे हम आगे मंत्र पढ़ेंगे तो सर ईमान लोकान अस्त्री आएगा अम्बो मरीजी मरा इत्यादि आएगा शब्द आएगा ऐसे लोगों की सृष्टि की तस्यास्त मान सृष्टि की बात जहां तक आती है तस्या मान सृष्टि है वो सृष्टि जो है सविशेष हिरण्यगर्भादि कर्तिकत्व सविशेष जो आत्मा होगा हिरण्यगर्भादि कर्ता वाला होगा क्योंकि सविशेष व्यक्ति किसी शरीर विशिष्ट होगा तभी कुछ सृष्टि कर सकता है घट बनाएगा कुमार अगर कुमार का शरीर ही नहीं होगा तो आत्मा क्या घट बना सकता है नहीं बना सकता सविशेष अवस्था में सृष्टि होती है या सृष्टि का प्रसंग आएगा आगे इसलिए सविशेष आत्मा ही चर्चा है निर्विशेष विशेष यही पूर्वादि की कहना है पुराणेशु प्रसिद्ध कहा प्रसिद्ध हिरण्य गर्वादी कर्ता सृष्टि के होते कर पुराणों में कहा है ताभ्यो कामान ये भी बाकी आएगा आगे वो शरीर जो बने हुए थे उनके लिए क्या लाया गाय ये उस आत्माओं को देवताओं के लिए ताद्य बने देवताध्य जो देवताओं की सृष्टि हो गई थी उनके लिए क्या किया अधिष्ठात्री देवता बन गए थे उनको रहने के गोलक देने के लिए गाय का शरीर बनाया ऊंट का शरीर बनाया उन्होंने अच्छा नहीं माना उसको फिर मनुष्य शरीर माना तो खुश हो गए ऐसी वाक्य में आनी है ताद्यो कामान इत्यादि व्यवहाराणाम जो व्यवहार होता है तो सविशेष में होता है उनके लिए गाय लाया कहने वाला लाने वाला गाय जो भी होंगे सब सविशेष वस्तु होता है इसलिए लोग एक सविशेष विषय तो लोग सविशेष है तो सृष्टि की चर्चा जहां होती है तो वहां पर सविशेष मानना पड़ेगा आगे सृष्टि की बात है इसलिए निर्विशेष आत्मा के कथन के लिए आगे कथन तो कैसे मानेंगे ये पूर्वाजी का और भी बात है जहां यह आत्मा भाई इधमग्रे आशित आदि वाक्य आएगा इसके पूर्व में जब प्रसंग देखते हैं पूर्वत्र पूर्व प्रसंग यहाँ ऐसे है आरण्य में कि अथा तो तथा सृष्टि ही कहते हैं अब कार्य की सृष्टि बताते हैं हिरण्य गर्भ कार्य की सृष्टि करता है अपना पैदा होने के बाद विराट आदि की सृष्टि करता है या रेत माने वहां कार्य कार्य की सृष्टि प्रजापति रेतो देवा कहा प्रजापति के कार्य है देवता रेत माने कार्य प्रजापति हिरण्य गर्भ उसके देवलोक देवता जितने भी कार्य है ऐसा कहा है इत्यत्र प्रजापति शब्द तस्य गर्भ से यह शब्द में आया हुआ जो प्रजापति शब्द है वो गर्भ के लिए हिरण्य गर्भ से प्रस्तुत है हिरण्य गर्भ के प्रकरण आया उसी के बाद आत्मा अभय इदमग्रे आशित आया हिरण्य गर्भ ही है पूर्व में गर्भ की चर्चा है उस बाद आत्मा शब्द आया है प्रस्तुत तत्वाच तस्य तद विषय उचित तस् मान हिरण्यगर्भ तद विषय तस् माने उसका <clears throat> आत्मा अभय इत्यादि वाक्य का तद विषय गर्भ विषय लेना होगा निर्विशेष आत्मा नहीं सविशेष आत्मा लेना होगा आत्मगृहित अधिकरण पूर्व पक्ष गाय संगत है ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में आत्मगृहित इतरवत उत्तरात ऐसा सूत्र आया है वहां पर पूर्व पक्ष आके बोलेगा यही मंत्र के ऊपर में विचार है आत्मा वम अग्रे आशी इत्यादि यही मंत्र है इसी मंत्र के ऊपर में यह अधिकरण बना हुआ आत्मगृहित इतरवत उत्तराध आत्म शब्द का ही ग्रहण है सिद्धांत ही बोलेंगे निर्विशेष आत्मा का किंतु पूर्व पक्ष बोलेगा ये मंत्र जहां आया हुआ है उसके पूर्व में देखो आप सविशेष आत्मा की चर्चा है इसलिए सविशेष आत्मा हिरण्य गर्भ को कहा आत्म शब्द से या आत्मावय में आत्म शब्द से हिरण्य गर्भ को कहा है ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांत कहेंगे नहीं आगे के वाक्य देखेंगे हम आत्म इतर इतर उपनिषद में जैसे सृष्टि का प्रसंग आता है तो जैसे तस्मात वा ये तस्मात आत्मा आकाशा संभूत कोई निर्विशेष आत्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति बताई है या सृष्टि के प्रकरण शुरू में निर्विशेष आत्मा की चर्चा होती है ऐसा है इतर श्रुति में जैसा आया वैसे यहां भी लेना पड़ेगा ये सिद्धांत बोलेंगे इतरवत इतर श्रुति अन्य श्रुतियों में जैसे अर्थ किया है यहां भी ऐसे लेना पड़ेगा क्यों उत्तरा वहां पर आदि के वाक्य से पता लगेगा आगे ऐसा इंद्र ऐसा ब्रह्म इत्यादि शब्द आएगा इसी को सब कुछ मानेंगे जो आत्मा भाई इदमग्रे आशित कहा था इसी के विस्तार में इंद्र ब्रह्म सब बताएंगे आगे उत्तर वाक्य से सिद्ध होता है निर्विशेष आत्मा की चर्चा है या आत्मगृह अधिकरण इसको बताता है या पूर्व पक्ष बोलेगा पूर्व पक्ष अपना पक्ष रखने जा रहा है कैसे निर्विशेष का ग्रहण होगा क्यों पूर्व में सविशेष की चर्चा है उसके बाद आत्मा वेद मग्र आशित आया हुआ है तो सविशेष लेना पड़ेगा सिद्धांत कहेंगे आगे देखो आगे के बाद लेकर के निर्विशेष की चर्चा होती है ये कहेंगे शंका उसके कथम पुनर् अकर्म संबंधी केवल आत्मज्ञान आत्म उत्तर ग्रंथ गम्यते पूर्व पक्ष ने शंका की सिद्धांत कहते हैं <clears throat> कथम ठीक है कहते हैं सविशेष विषय सती आत्मविद्या कर्म असंबंधो भी असिद्ध इति अभिप्रेत्य उत्तम अकर्म संबंधी थी पूर्वादि ने जो अकर्म संबंधी शब्द जो डाला हुआ है कथम अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञानार्थम कहा केवल आत्मविज्ञानार्थम कहने से काम चलता अकर्म संबंधी क्यों लिखा दिया होगा इसके लिए टीकाकार लेते हैं सविशेष विषय के सभी आत्मा जब पूर्व के प्रसंग को देखते हैं सविशेष आत्मा होना चाहिए आत्मा वही में सती आत्मविद्या आत्मज्ञान जो होगा सविशेष को विषय करेगी इसलिए कर्म असंबंधों भी असंध कर्म का असंबंध होना भी संबंध सविशेष होगा तो कर्म के संबंध ही रहता है असिद्ध यदि अभिप्रत्य स्वीकार करके उत्तम कर्म असंबंधी इसलिए कहा कर्म असंबंधी कैसे हो सकेगा पूर्व में कर्म संबंधी आत्मा की चर्चा है तो इस मंत्र के आत्मा शब्द कर्म संबंधी होना चाहिए अकर्म संबंधी आत्मा को कैसे विषय करेगा कैसे जाना जाए ये शंका सविशेषत्व पंद्रह की टिप्पणी में कहा केवल पदेना न पौनरूपम परिधि केवल शब्द देना और अकर्म संबंधी देना दोनों पुनरुक्ति दोष जैसा लगता है केवल आत्मा भी है केवल आत्मविद्या और एक आत्मज्ञान है और अकर्म संबंधी भी है तो पुनरुक्ति जैसा लगता है इसलिए कहा इसलिए बताया सविशेष विषय को कहा सविशेष विषय होने पर सविशेष विषय मानने पर आत्मविद्या भी कर्म का असंबंध नहीं होगा असिद्ध रहेगा तो कैसे हो सकता है केवल आत्मा कहा आगे सिद्धांत ही बोलते हैं देखो जब षडलिंग ग्राहक प्रमाण है या आगे के प्रकरण में हम देखते हैं छह प्रकार से देखते हैं विचार करते हैं तो निर्विशेष आत्मा का ही प्रतिपाद वाक्य है जिस आत्मज्ञान से मोक्ष मिलना है होना तो है अपने इस जीव भाव में बैठा हुआ आत्मा जब अपने को निर्विशेष आत्मभाव में समझता है वही मुक्ति है उसमें यही नहीं निर्विशेष आत्मा की प्राप्ति होगी नहीं उस भावना में पहुंच जाएगी भावना बदल जाएगी मनुष्य हम कह रहा था आगे आत्मा हम ऐसी बुद्धि हो जाए तो काम हो जाए तो कहते हैं शल्य का तात्पर्य बताते हैं वेदों के मंत्रों का तात्पर्य लेना हो शल्य ग्राहक प्रमाण है उसके द्वारा टीकाकार दिखाते हैं भाष्य में कहा था अन्य अर्थ अवगमात कहा था अन्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता यहाँ सविशेष अर्थ पर ज्ञान नहीं आता है आगे के वाक्य सब पढ़ेगा आगे, तक पढ़ोगे तो कहा एक देश को लेकर के कोई वाक्य का निर्णय नहीं किया जा सकता है पूरा सांगो पांग पूरा प्रकरण पढ़ना पड़ेगा तब सारांश आएगा तो कहते हैं आत्मा वही इदम एक एव अग्रे आशीत इति अद्वितीय आत्म उपक्रम उपक्रम है आत्मा शब्द से उपक्रम है आत्मा वही इदम एक अग्रे आशीत आत्मा शब्द से उपक्रम होता है उपनिषद में आरंभ होता है कहा सोलह के टिप्पणी तात्पर्य ग्राहकाणी लिंगानी अनुग्रहण श्रुति का तात्पर्य के अनुग्राहक जो लिंग होते हैं छह लिंग हैं तो उसको यहां दिखाना चाहते हैं अन्यार्थ अनुग्रह यही यही इसका अर्थ कर रहे हैं ये कहते दृष्टान का आत्मा वही इदम एक अग्रे आशीत इति अद्वितीय आत्मा उपक्रम अद्वितीय आत्मा का उपक्रम हो गया उपक्रम और उपसंहार एक होना चाहिए यहाँ आत्मा शब्द से आगे भी उसी की अंतिम में भी वही आना चाहिए तो संतम से न्याय लग जाए शुरू में आया अंतिम में आया तो बीच वाले भी वही हो जाएंगे ऐसी स्थिति आ जाती है ये सब ब्रह्म ये स इंद्र इत्यादि अनुक्रम में आगे जा करके यही ब्रह्म है जो आत्मा का शब्द से कहा था इसी को ये सब ब्रह्म ये स इंद्र ऐसे वरुणा इत्यादि कहेंगे हाँ, सर्वम तप प्रज्ञाने त्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम ऐसा बोलेंगे सबके सब जो ब्रह्म आदि जो भी थे प्रज्ञा नेत्र वाले हैं प्रज्ञा माने आत्मा प्रज्ञान अधिष्ठान वाले हैं सारे प्रज्ञान में कल्पित हैं ये इंद्रादि जितने भी है इसकी विभूति है प्रज्ञान स्वरूप आत्मा में कल्पित है ऐसा है अधिष्ठान है प्रज्ञा नेत्र वाला है जिसके द्वारा अपना सत्ता प्राप्ति होती वो नेत्र कहा गया अधिष्ठान से ही कल्पित वस्तु अपना सत्ता प्राप्ति करता है तो ये ब्रह्मा ये इंद्र इत्यादि अनुक्रम में लेकर के सर्वम तत् प्रज्ञान यत्र ऐसा वाक्य आएगा अंत में सबके सब वो प्रज्ञान यत्र वाला है यानी प्रज्ञा अधिष्ठान वाला है प्रज्ञान जो ब्रह्म है वो अधिष्ठान वाला है ऐसा बोला प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है आश्रित है वो उस प्रज्ञान से प्रज्ञानम ब्रह्म आएगा वही प्रज्ञान में सारे प्रतिष्ठित है उसका अधिकरण बताए आश्रित बताएंगे यदि प्रज्ञान शब्द तो प्रत्येगात्मा अधिष्ठात्मक ना प्रज्ञान शब्द के द्वारा कहा गया जो प्रत्येगात्म है पहले आत्मा वैसे कहा था अंतिम में प्रज्ञान शब्द से बोलेंगे सबके सब प्रज्ञान नेत्र वाला है प्रज्ञान अधिष्ठान वाला है प्रज्ञान में कल्पित है ऐसा बताएंगे बताने से प्रज्ञान शब्द से कहा गया जो प्रत्येगात्म है वो अधिष्ठान वाला हो गया तो उपसंगार इसमें होता है प्रत्यगात्म अधिष्ठान तद व्यतिरिक्त ब्रह्म समुद्रित हिरण्य गर्भादि प्रपंच से अभाव हुआ प्रज्ञान को छोड़ करके बाकी जितने भी हिरण्य गर्भादी शब्द से कहा जितने भी जगत था उसका अभाव दिखा दिया सर्वम तत्प्रज्ञान यत्र वो प्रज्ञा अधिष्ठान वाला है माना आत्मा अधिष्ठान वाला है ऐसा दिखाया उपक्रम आत्मा से उपसंगारित आत्मा तद व्यतिरिक्त प्रज्ञा से अतिरिक्त रूप से प्रज्ञान से अतिरिक्त ब्रह्म शब्द जो हिरण्य गर्भादी है प्रपंच से अभाव प्रपंच का अभाव का कथन करके प्रज्ञानम ब्रह्म यह आया वाक्य महावाक्य आता है प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है ऐसा आएगा प्रज्ञान शब्द से आत्मा को लिया और आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा कहेंगे इसे अदिति आत्मा उपसंहारा तो आत्मा शब्द से उपक्रम था उपसंहार भी आत्मा शब्द से होता है इसलिए उपक्रम उपसंहार एक हो गया षणलिंग में एक लिंग है ये संघम से न्याय लग जाता है सणाशी होती है ना पकड़ने वाला दोनों से पकड़ा जाता है बीज का हाँ, पतीला आदि पकड़ना तो समासी पकड़ते हैं इसी प्रकार पूर्व में आत्मशब्द अंतिम में आत्मशब्द आता है तो बीच में भी आत्मा की चर्चा लेनी पड़ेगी उपक्रम उपसंहार से श्रुति का तात्पर्य निकाला जाता है एक दूसरा लिंग देते हैं छह है लिंग दूसरा कहते हैं आगे <clears throat> स एतम एव पुरुषम ब्रह्मतम अपश्यत कहते हैं ये जो उत्पन्न हो गया जो जीव भाव में आ गया है ये वही परमात्मा एतम एवं सीमान विदार्य प्राप्त ऐसा आया था तो इस सीमा को विदारण मुर्दा को विदारण करके भीतर आया हो मेरे बिना क्या चलेगा ये करके आया हो परमात्मा यहाँ प्रविष्ट हो गया प्रविष्ट होने के बाद में जीव भाव में आ गया दुखी होने लग गया फिर आगे जा करके सब एतम ये पुरुषम ब्रह्म तत्म बाद में जब वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन आदि किया पहले तो मैं जीव हो करके चलने चल पड़ा था मोहरूपी मदिरा पी लिया था पागल जैसा हो गया था मैं मनुष्य हूं करके चल पड़ा यहां घुसने के बाद उसके बाद में जब जब उसके पुण्यकर्म आर्जित हो गए कभी उदय हो गए तो वेदांत का श्रवण मनन निर्देशन प्राप्त हो गया होने के बाद में वही उसी को देखा उसने जिस रूप में था पहले क्या देखा एतम एवं पुरुषम यही पुरुष को ब्रह्म ततम जो विस्तृत ब्रह्म है ततम विस्तृतम यह व्यापक ब्रह्म है उसी रूप में अपने को देखा वेदांत श्रवण मन निध्यासन के बाद ये देखा ऐसा वाक्य आएगा इति मध्य परामर्श बीच में परामर्श भी उसी के निर्विशेष का ही है उपक्रम निर्विशेष का उपसंगार निर्विशेष का ब्रह्म का और बीच में परामर्श भी हाँ एतम एवं पुरुषम ब्रह्म तथम अपश्यत करके निर्विशेष का ही मध्य में परामर्श है मध्य माने परामर्शात इति अभ्यास होती है परामर्श माने अभ्यास का ही दिया पर संगारात अभ्यास ये परामर्श मैंने अभ्यास हो गया अभ्यास को बोल दिया आगे ब्रह्मात्मा अद्वितीयत्व से मानांतर अगम्य अपूर्वत्व अपूर्वत्वाद ये अपूर्व भी है जो ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा कई ब्रह्म रूप से मानना जो होता है ब्रह्मात्मा आत्मा भाव से ब्रह्म को समझना अद्वितीय मानना ये जो अन्य प्रमाण का विषय नहीं है श्रुति का ही प्रमाण है तत्वमसी आदि महावाक्य के ही प्रमाण है बाकी कोई प्रमाण नहीं मिलता मानांतर अन्य प्रमाण का विषय न होने से अपूर्वत्वाद अपूर्व भी है अपूर्वत्वाद और अमुष्मिन स्वर्गीय लोके सर्वान कामानात्वा अमृता समापति थी स्वर्ग शब्द आता है ना उस स्वर्ग स्वर्गलोक में सभी कामों को प्राप्त विषयों को प्राप्त करके अमृत हो गया ऐसा अमर हो गया कहा एवं होने स्वर्ग शब्द था मृत है सुखा सुखात्मक ब्रह्मणा ब्रह्मणा ऐक्य स्वर्ग शब्द से कहा गया जो निर्देश सुख स्वरूप ब्रह्म है उसके साथ ऐक्य बताने से स्थित ऐसे एक होकर के रहने रहने वाला जीव का तदंश भूत वैसे के सर्वा आनंद प्राप्ति लक्षण फल होते फल भी बता दिया वो जो सर्वात तो सुख रूप ब्रह्म है उसको प्राप्त करने पर उसको अंशभूत वैषयिक सुख मिला हुआ ही होता है वहां तो फल भी बता दिया उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो अपूर्वता भी हो गया फल भी बता फल वाक्य भी हो गया और अर्थवाद भी है कहते हैं वहां एक अर्थवाद से भी निर्णय लिया जाता है क्या है निंदा स्तुति परक वाक्य होगा अर्थवाद होता है सृष्टि आदि अर्थवादत्व बीच में सृष्टि की चर्चा है अर्थवाद वाक्य है उसमें तात्पर्य नहीं है वो तो सृष्टिकर्ता को दिखाने में तात्पर्य होता है सृष्टि में तात्पर्य नहीं है ये न के न प्रकार अनेक करके वो जो सृष्टि करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको पहचानने में तात्पर्य होता है अर्थवाद में अपने शब्दों में तात्पर्य नहीं अर्थ में तात्पर्य नहीं होता अन्यत्र तात्पर्य होता है वो तो एन के न प्रकार निर्विशेष आत्मा को बताना है इसलिए सृष्टि की चर्चा करनी है उसी से सृष्टि हुई करके कहा वास्तव में सृष्टि हुई भी नहीं उसमें तात्पर्य यह अर्थवाद है सृष्टि आदि अर्थवाद अर्थवाद कैसे सृष्टि आदि बताई कहा स एतम एवं सीमान विदार्य एतया द्वारा प्राप्त वो जो परमात्मा है जब इस शरीर को बना लिया तो ये सीमा माने जो मुर्दा भाग है जहां से केस का भेद हो जाता है माता लोग जहां मांग डालती है ये सीमा बोलते हैं इसी सीमा को विदारण करके माने या तालू बोलते हैं मुर्दा बोलते हैं यह जब बच्चा पैदा होता है तो गीला गीला रहता है केवल चमड़ी रहती है बाद में भरता है तो यहीं से परमात्मा का द्वार मानते हैं ये परमात्मा यहां से प्रविष्ट हुआ मानते हैं एतम एवं सीमान विदार्य इसी सीमा को विदारण करके भेदन करके एतया द्वारा प्राप्त इसी सीमा के द्वारा परमात्मा इस शरीर में प्रविष्ट हुआ प्राप्त हुआ यदि प्रवेश होते प्रवेश करने से सृष्टि वाक्य हो गए कहा और अभी बोलते हैं ये जो सृष्टि को क्या बोलते हैं जो सृष्टि हो गई है शरीर आदि सृष्टि हो गई परमात्मा प्रविष्ट हुआ वास्तव में हुआ ही नहीं क्या बोलते हैं आगे तस्य त्रय आवश्यकता उसके निवास स्थान तीन है कहते हैं जो यहाँ प्रविष्ट हुआ है जीव बना हुआ है उसके निवास स्थान तीन है तीन घर है उसका जागृत स्वप्न सुसुप्त इसमें घूमता रहता है त्रयो आवश्यकता तीन आवश्यक है निवास स्थान है उसके कभी जागृत में होता है कभी स्वप्न में होता है कभी सुसुप्त में होता है ऐसा करके कहा और त्रय स्वप्न वो तीनों के तीनों स्वप्न है करके मिथ्या सृष्टि को मिथ्या घोषित कर तीन उसका रहने का स्थान है जो सीमा से प्रविष्ट हुआ व्यक्ति है उसके रहने का घर तीन है जागृत स्वप्न सुसुप्ति में घूमता है तीन घर है इसके अच्छा तो त्रय स्वप्न है तीनों स्वप्न है मिथ्या है स्वप्न सत्य नहीं होता श्रुति बोलती तीनों को स्वप्न बता देती है यह अर्थवाद है तस्य त्रय अवसथा त्रय स्वप्न इति जागृतादि अवस्था त्रय से स्वप्न मिथ्यात्ति उपपत्त्यश्च उपपत्ति भी है मिथ्यात्ति युक्ति भी है यहाँ जागृत आदि तीनों अवस्थाओं को मिथ्या कहा उपपत्ति भी है युक्ति भी है ये कहा मिथ्यात्व उक्ति उपपत्ति तीन की टिप्पणी में कहा माने मिथ्यात्व उक्ति रूप उपपत्ति मिथ्यात्व युक्ति स्वरूप ही उपपत्ति है यहाँ अर्थवादोपत्ति उपपत्ति का लिंगम तात्पर्य लिंग हो गया आपके इसलिए निर्विशेष अद्वितीय आत्मपरत्व अवगमना इस षणलिंग के द्वारा जब देखते हैं इन मंत्रों के पूर्वा पर पूरा विचार करते हैं आत्मा वय से लेकर के ये सब ब्रह्मादि प्रज्ञान प्रज्ञान यत्रम सर्वम इत्यादि वाक्य का विचार करते हैं पूरे का षडलिंग तात्पर्य के द्वारा क्या होता है निर्विशेष आत्मा की चर्चा मानी जाती है इसकी आगे की प्रकरण कहा निर्विशेष अद्वितीय आत्मपरत्व अवगमन निर्विशेष अद्वितीय आत्मा परक ज्ञान होने से ग्रंथस्य ये ग्रंथ का तात्पर्य वही आएगा ये तीनों अध्यायों को मिलने के बाद यह अर्थ आता है ग्रंथ से अर्थांतर शंका अवकाशात अन्य विषयांतर में ले जाना शंका के अवकाश नहीं है हिरण्य गर्भ अर्थ करना संभव नहीं पूर्वादी हिरण्य गर्भ अर्थ करना चाहता था कर्मी आत्मा को लेना चाहता था वो अर्थ लेना संभव नहीं अर्थांतर शंका अनवकाशात लोकादि सृष्टि उपदेश और लोकादि सृष्टि का कथन करना करने से क्या होगा अध्यारोप अपवादाभ्याम उक्त आत्म प्रतिपत्ति लोकादि सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है वो तो किसी तरह उसको बतलाना है कैसे बताएं देखो भाई उस आत्मा से सब उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा बाद में नेति रेति आदि सबका वही निषेध कर दिया अब कुछ ज्ञान हो जाएगा पहले आत्मा आत्मा कहेंगे तो ज्ञान नहीं होने वाला खाली आत्मा कहने से ज्ञान नहीं होगा तो पहले आरोप करना जगत की सृष्टि दिखाना उससे उसके बाद जगत का लय दिखा देंगे कुछ अधिष्ठान रूप से समझेगा व्यक्ति तात्पर्य उसमें तात्पर्य है जगत को सृष्टि को बतलाने में तात्पर्य नहीं है यह दिखाना है ये कहा लोकादि सृष्टि उगते लोकादि की जो सृष्टि लोकान असृजत इत्यादि आएगा इस सृष्टि कथन क्या है अध्यारोप अपवाद लगा करके लोगों की सृष्टि करना आरोप किया उसमें है ही नहीं सृष्टि आरोप करके फिर अपवाद नहीं है करके दिखाया दिखाकर अपवाद है उगता आत्म अर्थ हम उसी पूर्वोक्त आत्मा निर्विशेष आत्मा की ज्ञान के लिए वैसे ज्ञान होता नहीं खाली आत्मा आत्मा करने से ज्ञान होता नहीं ऐसा आत्मा ने अध्या अध्यारोप रोपा ने अध्यारोपा अध्यारोपा आत्मा में आरोपित जो है ना परमात्मा एवं जितने भी आत्मा में आरोपित हैं वो परमात्मा ही है जैसे मिट्टी में जितने आरोपित करते हैं हम घट कलश आदि आरोप करते हैं वास्तव में मिट्टी है वो वो मिट्टी ही होती है धागा में जितने भी वस्त्रों का आरोप करते हैं वस्त्र नहीं होता धागा ही होता है अधिष्ठान ही सत्य होता है कल्पित वस्तु आरोप जो होता है मिथ्या होता है सृष्टि आदि मिथ्या है ये कहते हैं आत्मनि अध्यारोपाद ये सब मिथ्या क्यों है सृष्टि आत्मा में आरोप होने से अध्यारोपाद परमात्मा एवं यह आत्मशब्द में गृहते इसलिए सारे संसार आत्मा में आरोपित होने से परमात्मा ही इस मंत्रों में यह माने ये मंत्र आगे जो मंत्र आएगा आत्मा भी इतम मंत्र आशित आदि मंत्र आएंगे इस उपनिषद में आत्मशब्द ने गृह थे आत्मशब्द के द्वारा परमात्मा नहीं अपर आत्मा नहीं परमात्मा ही किया जाएगा सविशेष आत्मा ने निर्विशेष आत्मा का ही ग्रहण होगा ये कहा अच्छा अध्यारोप चार की टिप्पणी में कहते हैं अध्यारोप रूपतया अभिपक्षित्वाद मानी सृष्टि अध्यारोप होने से विवक्षित नहीं है आरोपित वस्तु विवक्षित नहीं होता जैसे मिट्टी में घट घट बोलते हैं घट आरोपित है वो विवक्षित है मिट्टी विवक्षित है मिट्टी को समझना जरूरी होता है ऐसे यहां भी अच्छा गृहते आत्मा शब्द के द्वारा निविषय गिरी होता आत्मगृहित सूत्र का अर्थ करने जा रहे हैं ब्रह्म सूत्र का आत्मगृहित अब इतरवत उत्तरा दो पद बाकी है आत्मगृहित का अर्थ हो गया ये क्या आत्म शब्द के द्वारा आत्मा का ही गृहित माने ग्रहण आत्मग्रहण है निर्विशेष आत्मग्रहण है षलिंग के द्वारा तात्पर्य ग्राहक षलिंग के द्वारा ज्ञान होता है आगे इतरवत आया आत्मगृहित इतरवत उत्तराध सूत्र है ब्रह्मसूत्र दूसरा पद आया इतरवत इतरवत माने यथा इतरेशु सृष्टि श्रवणेशु अन्यत्र भी जब उपनिषदों में सृष्टि का श्रवण होता है सृष्टि श्रवणेशु तस्माद व तस्माद आत्मा आकाश संबुत इतमादिशु इत्यादि जो श्रुति है उपनिषद आदि में देखा परस्य आत्मा को ग्रहण हुआ परमात्मा का ही ग्रहण होता है अपर आत्मा हिरण्य गर्भ की चर्चा नहीं होती वहां तस्माद तस्मात आत्मना आकर संबोधन है परमात्मा ग्रहण होता है यथावा अथवा इतर में लौकिक आत्मशब्दो प्रयोग प्रत्येगात्मा भी मुख्य अथवा देखो लोक में जो आत्मशब्द का प्रयोग करते हैं तो मुख्य रूप से आत्मा का प्रयोग कहाँ होता है शरीर में भी होता है कहीं कहीं कहेंगे भद्रसेन मामा आत्मा करके अपने मैंने अच्छा काम करने वाले व्यक्ति के लिए आत्मशब्द का प्रयोग कर देता है किंतु मुख्य रूप से प्रत्येगात्मा अंतरात्मा को ही आत्मशब्द का प्रयोग होता है लोक में भी ऐसे होता है मुख्य ग्रहण होता है तो सृष्टि वाक्य में जो आत्मा आया मुख्य आत्मा ही लेना होगा ये कहते हैं यथावा अथवा इतरस्मिन लौकिक आत्मशब्द प्रयोग लौकिक आत्मशब्द प्रयोग में प्रत्येक आत्मा ही वो मुख्य आत्मशब्द निर्दय तथा यहां भी भवित मानत यहां भी आत्मशब्द करते मुख्य आत्मा लिया जाएगा जो निर्विशेष आत्मा परमात्मा ही लिया जाएगा ये कहा कुतः वाक्यार्थ दर्शनात्मा क्यों इसके वाक्य का अर्थ देखा है कैसे देखा है पांच नंबर टिप्पणी करते वाक्यार्थ दर्शनार्थ उत्तराद यदि हेतु भागार्थम आगे है आत्मगृहित उत्तराद सूत्र में उत्तराद है उसी का अर्थ किया है हेतु भाग है उत्तराद उसी का अर्थ किया मिथ यही बता दिया वाक्यार्थ वाक्य को अन्वय देखा है कहा कैसा आत्मगृहित इतरवत उत्तराद इति अधिकरण सिद्धांत न्याय ये ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद में है अधिकरण इस युक्ति के द्वारा केवल आत्मपरत्व तो निश्चय केवल आत्मपरक वाक्य सिद्ध होता है आगे का वाक्य आत्मा व इदमग्र आशित आदि वाक्य कर्मी आत्मा का नहीं निर्विशेष आत्मा के सिद्ध हो जाता है इस सूत्र के आधार पर लेने से ये कहा निश्चयात न सविशेष परत्व उत्तर ग्रंथ से इत्यादि इसलिए आगे का ग्रंथ जो आएगा आत्मा व इदमग्र आशित आदि मंत्र भाग जो आएंगे तीन अध्याय आएंगे वो सविशेष ब्रह्म परक नहीं है हिरण्य गर्भ परक नहीं है ये सिद्ध करना है इसलिए कहा अन्य अर्थ अनुभव वहां भाषिकार ने सब अन्य अर्थ नहीं निर्विशेष छोड़ करके अन्य अर्थ नहीं ली जाना नहीं जाता आगे के वाक्य देखने पर ये कहा ठीक है देखें यद ऐसा एवं मोक्ष यदि उत्तम तत्राह पूर्वाज ने कहा था ऐसा एवं मोक्ष भाष्य में एवं शब्द से छूटा हुआ होगा यहाँ भाष्य में एवं शब्द नहीं है टीकाकार बोलते हैं यद ऐसा एवं मोक्ष पूर्व पृष्ठ में था प्रथम पंक्ति था ये सब मोक्ष पूर्वादि ने कहा था तो टीका के आधार पर करना पड़ेगा भाष्य में ये वह शब्द जोड़ना होगा भाष्य में यहां ये वह शब्द नहीं है पूर्वादि ने जो कहा था यही मोक्ष है कौन हिरण्य प्राप्ति मोक्ष कहा था ये सब मोक्ष ऐसा कहा था पूर्वादि ने उसको विषय में कहते हैं तथा च तो आपने जो कहा हुआ मोक्ष पद बताया हुआ देवता है ना वो भूख प्यास से युक्त है वो भूख प्यास से युक्त संसारी होता है हाँ। वो तो संसारी देवता है वो आत्मदेव नहीं है ये सिद्धांति कह रहे हैं तथा से पूर्वोक्ता नाम देवता नाम पूर्वोक्त जो पूर्वादि ने जो देवता रखी थी यही हिरण्यगर में रखा ये देवता जो है अग्नि आदि नाम अग्नि आदि देवता है संसारी तुम दर्शयती उसमें संसारी दिखाएगी श्रुति यहां आगे असनायादि है ना क्यों असनायादि दोष वाले हैं वो भूख प्यास से युक्त हैं सारे देवता तम असना पिपाशाभ्यम अन्नवार्जत ऐसा शब्द आएगा वो जो देवता सृष्टि की है परमात्मा ने उसको भूख प्यास से जोड़ दिया ऐसा आएगा ठीक है देखें तथा संसारित्व च दर्शित अन्वय तथा संसारित्व च दर्शयती ऐसा करना च को बाद में अन्वय करना तथा संसारित्व च दर्शयती का उसी प्रकार संसार दिखाता है छह तथा सती अर्थ से अनुपयुक्त होगा तथा सती तथा का अर्थ तथा सती ले नहीं सकते हैं इसलिए उसी प्रकार ये कहा होगा तथा सती इतिहास अनुकूल तत्वादेव चकार भिन्न क्रमेण योजएगी चकार को भिन्न क्रम तथा का अन्वय करना दर्श स्थिति के साथ फिर चकार बाद में जैसा आया वैसा क्रम नहीं समझना ये कहा तथा इत्यादि ठीक है मेरे तथा संसारित्व च दर्श स्थित अनुभव गया तम हिरण्य गर्भस्य तम असना पिपाशाभ्यम अनुवार्जत ये श्रुति का अर्थ कर रहे हैं ठीक है तम हिरण्य गर्भस्य स्थूलम रूपम वैराजम जो हिरण्य गर्भ का स्थूल रूप है विराट विराज रूप है पिंडम जो विराट पिंड है असना पे पास आद्यम संयोजित वहां भूख प्यास से युक्त कर दिया ऐसी स्थिति है ईश्वर ने ऐसा किया रहा असनायादि मत्वे भी निर्देश सुखवत्व ने देवता भाव से मोक्षत्व सदी क्या पूर्वाजी बोलता है भूप्यासी है जरूर देवता हिरण्य भूप्यासी युक्त है ठीक है ठीक है उसका थूल रूप है हिरण्य गर्भ का विराट थूल रूप है वो गोप्यास से युक्त होने पर भी अत्यंत निर्तिशय सुख है वहां उससे बड़ा सुख कोई है ही नहीं इसलिए वो वही मोक्ष है पूर्वादि की शंका फिर आ गए असनयादि भी असनयादिमान होने पर भी भूख प्यास से युक्त होने पर भी जो हिरण्य गर्भ है वह मत्वेती निरते सुखवत्व निरते से सुखवान है से सुख नहीं वहां जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं ऐसा सुख है वहां निरते से सुख होने से सुखवर्ती है ना देवता भाव से जो देवता भाव को प्राप्त करना है हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त करना है वो क्या है मोक्षत्व संबंधी वो मोक्ष हो जाएगा मोक्षत्व से हो जाएगा मोक्ष मृत्य सुख तो मोक्ष है वही देवता भाव को प्राप्त होने से हो गए काम ये पूर्वादि की शंका हो गई उसके उत्तर में कहा असनायादि मत सर्वम संसारे व सिद्धांत कहते हैं असनयादि धर्म जितने भी संसार में ही है मोक्ष में नहीं है ये धर्म सब मुक्त अवस्था में जब अन्य का धर्म अन्य में आरोप करता है तब वो भूख प्यासी युक्त होता है प्राण का धर्म आरोप करके होगा किस अवस्था में संसारी अवस्था में आत्मा में प्राण से यदि अतिरिक्त तो मान ले अपने को तो प्राण का धर्म लाएगा रहे तो भूख प्यासी युक्त नहीं होगा वो तो प्राण का धर्म ला करके मानता है संसार में ये भूख प्यास आदि धर्म ये कहा ठीक है असमायादे दुख नियतत्वाद निरतिशय सुखवत्व तस्य असितम पूर्वाजी ने कहा था भूख व्यास से युक्त होने पर नृत्य से सुख वाला है इसलिए नृत्य से सुख वाला होने से वही मोक्ष मानेंगे हिरण्य गर्भ कहा सिद्धांत कहते नृत्य से सुख वहां संभव नहीं है क्यों असनयादि हम्म, असनयादि दुख नियतत्व माने जहां जहां असनादिवत्व तो होगा वहां दुखित्व तो होगा भूख प्यास लगेगा दुखी होगा माने संसारी अवस्था में दुखित्व तो आएगा यत्र यत्र असनादिवत्व तत्र दुखित्व हम्म, ऐसा रहेगा व्याप्त है असनादिवत्व असनादि आदि भूख प्यास आदि जो होते हैं दुख नियतत्व माने दुख व्याप्तत्व दुख से व्याप्त है यत्र यत्र तुम तत्र तत्र दुखत्व जरूर व्याप्ति ऐसे बनेगी दुखित तुम आ जाएगा नृत्य सुखवत्तम तस्य हिरण्य से तस्य हिरण्य से नृत्य सुखवत्तम असत उसमें नृत्य सुख होना संभव नहीं क्यों दुखी रहेगा वो क्यों भूख प्यासयुक्त जो होगा तो दुखी होता है हिरण्य गर्भ में भूख प्यासयुक्त जब हो गया तो दुखी है वो कहां से नृत्य सुख हो गया वो साथ ही साथ सुख है हमारी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा सुख है दुखी है ये कहा यदि तो संसारी को मतलब संसारी हिरण्य गर्भ संसारी है ये सिद्ध हुआ अच्छा यद निर्विशेष आत्मस्वरूप अवस्थान से विषयादि रहित न मोक्षत्म पूर्वाज ने कहा था जो निर्विशेष आत्मभाव में बैठना जो होता है वो मोक्ष नहीं हो सकता है क्यों विषयादि रहित है कुछ मिलेगा नहीं वहां सुख मिले तब तो मोक्ष माने सुख मिलता नहीं सुख रूप हो जाता है वो हाँ, मिस्त्री बनना अच्छा नहीं है मक्खी बनना अच्छा है मक्खी बनेंगे तो मिस्त्री को चूसने मिल जाएगा मिस्त्री बनने से क्या फायदा होगा हो सकता मिठास दूसरा ले ले आपका मिठास आपको तो कुछ नहीं मिलना है ये पूर्वादी ने कहा था ये द्वैतवादी यही बोलते हैं अद्वैत होना ठीक नहीं है द्वैत भाव हो तो भगवान की भक्ति करेगा कुछ करेगा आनंद मिलेगा सुख मिलेगा अद्वैत होगा तो किसके भक्ति करेगा क्या करेगा क्या करना उसने ठीक नहीं नहीं होता ये पूर्वादि ने कहा था यच्च निर्विशेष आत्मस्वरूप अवस्थान से निर्विशेष आत्मा में स्थित होना जो है विषयादि रहित तो विषय नहीं है इसलिए न मोक्ष तो मोक्ष नहीं हो सुख मिलना चाहे मोक्ष में वहां सुख मिलना नहीं निर्विशेष में क्या मिलेगा ये कहा था तद असत सिद्धांत करे वो ठीक नहीं है उसका पूर्वादि का कहना ठीक नहीं क्यों तस्य यो असनापे पाशे शोकम हम जरा मृत्यु अत्येति असनायादि अत्य श्रुते दुखा प्रसक्त कहते हैं सिद्धांत कहते हैं वहां दुख नहीं है दुख न होना ही तो आनंद में रहना है मृत्यु से सुख न होने पर भी दुख नहीं होगा क्यों तस्य मन जो निर्विशेष आत्मा है उसके बारे में श्रुति बोलती है यो असना पिपाशे शोकम वोहम जरा मृत्युम अत्येति कहा माने सड़ उर्मी से पार कर जाता है जो आत्मा शोक मोह भी नहीं मन का धर्म नहीं वहां भूख प्यास नहीं असना पिपासा नहीं प्राण का धर्म नहीं जहां और जरा मृत्यु नहीं स्थूल शरीर का धर्म नहीं जहां जरा मृत्यु स्थूल शरीर का धर्म है भूख प्यास प्राण का धर्म है शोक मोह जो होता है वो मन का धर्म है तो मन में तादात्म करे शरीर में तादात्म करे प्राण में तादात्म करे तब ये आता है ये संसारी अवस्था में होता है ये उसमें नहीं है तो इन तीनों से अलग अवस्था में जाए प्राण से अलग मन से अलग और शरीर से अलग अपने को कर सके मैंने थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग कर सके कारण शरीर से अलग कर सके वहां शोक मोह भूख प्यास आदि नहीं होते ऐसा उस निर्विशेष आत्मा के बारे में कहा तस् आर्थिक ने कहा निर्विशेष आत्मस्वरूप अवस्थान से निर्विशेष आत्मस्वरूप से रहना जो होता है उस स्थिति में स्मृति बोलती है क्या यो असनाया से शोक मोहम जरा मृत्यु मत्येती भूख प्यास दोनों को अतिक्रमण करता है और शोक मोह को अतिक्रमण करता है जरा मृत्यु को अतिक्रमण करता है निरशेष आत्मभाव में होने पर ऐसा कहा अत्यति अत्यति इति असमायारी अत्य श्रुते भूख प्यास के अभाव दिखाया भूख प्यास जरा मृत्यु शोक मोह का अभाव दिखाया है निरविशेष आत्मा में इसलिए सुखवत्तम हम्म, न मोक्ष हाँ, श्रुते तन नियत दुखा प्रसरते हाँ, वहां पर दुखित्व तो नहीं आएगा उस स्थिति में जब पहुंचेगा दुखित्व तो नहीं होगा दुखी तो भूख प्यास आदि लगने पर होता है शोक मोह मन के धर्म आने पर दुखी होता है व्यक्ति प्राण का धर्म आने पर भूख प्यास आने पर स्थूल शरीर का जरा मृत्यु ग्रसित होने पर दुख होता है यह धर्म नहीं तो दुख होता नहीं है इसलिए दुखित तो नहीं आता इसलिए मोक्ष होता है वो कहा स्वतः आनंदो ब्रह्मेति बेदाना अन्य श्रुति में स्वतः ऐसा भी है आनंद रूप है वो ब्रह्म को किस रूप में जाना आनंद रूप से जाना तैतृपनिषद में कहा आनंदो ब्रह्मेति बेजानाथ ऐसा आया है स्वतः नौवी टिप्पणी में कहा दुख शून्यताम उपवा सुख रूपताम आहा दुख शून्य है क्योंकि यह सड़ उर्मी से अलग हो जाता है तो दुख का अभाव होता है मोक्ष अवस्था वही है दुख शून्यता को कथन करके आगे सुख रूप भी है वो कैसा सुख रूप है आनंदो ब्रह्म दिव्य जाना आनंद वही ब्रह्म रूप से जाना भृगु ने किसने जाना भृगु ने ऐसा आया है आनंद माने सुख सुख से अभिन्न है तब सुखरूप है दिखाया सुखरूप दिखाया ये कहा स्वतः स्वतः जो है आनंदो ब्रह्म दिवेदानाथ इति श्रुत्यंतरात तैतरे श्रुति से पता लगता है और अमुस्मिन स्वर्गे लोके इति यहाँ यहां भी स्वर्गलोक शब्द आया है स्वर्ग माने नृत्य से सुख कोई तो स्वर्ग कहा जाता है या न दुखे न संबिन्नम न च्रस्त मनंतरम अभिलाषो पनीतम च तत्सुखम स्वपदास्पदम ऐसा कहा है सुख शब्द का अर्थ होता है जहां दुख कभी विस्तृत नहीं होता ये न दुखे न संभिन्नम दुख मिश्रित नहीं है जो सुख वो स्वर्ग पद का स्थान होता है आश्रय होता है अन्न दुखी न संभिन्नम मिश्रणाभाव हो जहां दुख का नाम निशान हो अभी हमें जो भी हम खाते पीते चलते करते हैं सुख होता है दुख मिश्रित होता है इष्ट वस्तु भी दुख मिश्रित हो ये नाश ना हो जाए दुख साथ में लग जाता है दूसरे का अधिकार छीन के लाए कोई वस्तु हमने लाया है सुख तो हुआ किंतु साथ साथ दुख भी दूसरे से मेरे से आया ठीक है किंतु मेरे से न जाए दुख है उसके बाद सब दुख देने वाला दुख निश्चित होता है यंग दुखे न संभिन्नम न तो ग्रस्तम अनंतरम एक बार मिलने के बाद फिर नाश नहीं होगा ऐसा सुख है हम्म। स्वर्ग शब्द का अर्थ ऐसा होता है अध्यात्म में हम्म। लोग विशेष नहीं होता सुख विशेष को स्वर्ग मानते हैं यंग दुखे न संभिन्नम न तो ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम तो सबकी अभिलाषा है अभिलाषा का विषय है मिल जाए सब चाहते हैं क्या चाहते हैं सुख चाहते हैं पनीतम से तत्सुखम स्वपदास्पदम स्वपद का आस्पद में आश्रय होता है सुख ऐसा सुख को स्वर्ग स्वर्ग से कहा जाता है यहां भी कहा कि अमुष्मिन स्वर्गीय लोके यहां भी आनंद रूपता अवगमात आनंद रूप से कहा स्वर्ग शब्द से सुख सामान्य बातचीत हुआ स्वर्ग शब्द का अर्थ सुख सामान्य होता है सुख का वाचक होता है सुख शब्द ऐसे दिया अनंत स्वर्गीय लोके ब्रह्मविदा स्वर्गम लोकम इत ऊर्गम विमुक्ता इत्यादि श्रुति अनंत स्वर्गीय लोके ब्रह्मविदा गच्छन्ति ऐसा शब्द होगा माने अनंत जो स्वर्गलोक है सुख अनंत सुख रूप में जाते हैं ऐसा और स्वर्गम लोकम इतर ऊर्धम विमुक्ता यहां से आगे मुक्त हो जाते हैं स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं मैंने सुख रूप में हो जाते हैं ऐसा श्रुतियां हैं ऊर्धम श्रुति में ऊर्ध शब्द ऊर्ध पुलिंग में पाठ है कहते हैं टिप्पणीकार बोलते हैं ऊर्धम के स्थान पर श्रुति में ऊर्ध शब्द है ऐसा आया टिप्पणी यह दिया है सर्वत पाठ है ऐसा ऊर्ध पुलिंग में है या ऊर्धम नपुंसक किया हुआ है इत्यादि श्रुतेशु ब्रह्मानंदे स्वर्ग शब्द प्रयोग इत्यादि जो अनंत स्वर्गे लोके ब्रह्मविदा स्वर्गम लोकम इत ऊर्गम विमुता इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्मरूप जो सुख है ब्रह्मानंद में स्वर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए भी स्वर्ग शब्द का शब्द आत्मा ही है तस् विषया भावे भी पुरुषार्थत्वाद मोक्षत्व यद्यपि वो विषय नहीं बनता है सुख फिर भी विषय नहीं है फिर भी वो क्या वो पुरुषार्थ है सभी सुख के लिए तो काम करते हैं परम पुरुषार्थ वही है सुख मिले कोई भी हम आर्जन करना चाहते हैं किसके लिए सुख के लिए वो सुख है परम सुख है इसलिए विषय के अभाव होने पर भी पुरुषार्थत्व परम पुरुषार्थ होने के कारण वो जो सुख है सुखरूपात्मा मोक्षत्व ये मोक्ष कहा जाता है एक तस्य ग्यारह की टिप्पणी कहा तस्य निर्विशेष आत्मस्वरूप अवस्था से निर्विशेष आत्माभाव में रहना विषय के अभाव होने पर भी सुखरूप होने के कारण पुरुषार्थ का पुरुषार्थ है इसलिए वो मोक्ष है कहा इसलिए कहा परस्यतु इत्यादि कहा था परस्यतु ब्रह्मणो आदि अत्यसुर है जो परमात्मा है परब्रह्म है अपर ब्रह्म ने पर ब्रह्म में भूप्यास आदि से रही सुना कहा सुना कि यो असना पास है शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्यति इत्यादि श्रुति में सुना है ये कहा ठीक है ठीक है कहते हैं एवं निर्विशेष आत्मविद्या मोक्ष साधनत्म अंगीकृत अब तक ये स्वीकार किया पूर्वादि स्वीकार करता है इस बात को ठीक है निर्विशेष आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है मान लीजिए तस्या अकर्म निष्ठत्व नियम रूपम कैवल्यम स्मरण जो अकर्म निष्ठ है निर्विशेष आत्मज्ञान अकर्म सन्यासी में होगा ये कहना इसको नहीं कहता न संभव तस्या माने निर्विशेष आत्मविद्या या अकर्म निष्ठत्व नियम रूपम कैवल्यम न समझती ऐसा बोलता हुआ संन्यास आक्षपति अकर्मनिष्ठ नहीं हो सकता माने संन्यास के ऊपर आक्षेप करता है संन्यास नहीं होता है कर्मनिष्ठ होगा वो ज्ञान माने निर्विशेष आत्मज्ञान कर्मी मानी गृहस्थाश्रम ही नहीं होगा तो गृहस्त्र में ज्ञान होगा तो संन्यास आश्रम है ही नहीं ये पूर्वादि कहना चाहता है संन्यास आश्रम को पर आपको लगाना चाहता है ये कहा इसलिए कहा भवतु गर्ग पूर्वादि ने शंका किया भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम ठीक है इस प्रकार का निर्विशेष आत्मज्ञान मोक्ष साधन हो आपने जो बताया शलिंगा भी तात्पर्य दिखाया आपने इसके माध्यम से हम मानते हैं न तो अकर्त्री अकर न तो अत्र अकर्मी एवं अधिक्रिय जो अकर्मी सन्यासी हो या अधिकारी होता है ये बात नहीं विशेष अश्वभाव विशेष सन्यासी का नाम आया नहीं यहाँ ये पूर्वाधिक का कहा है ठीक है ठीक है मैं कहते हैं विशेष श्रवण असभ्रम एवं है विशेष सुना तो नहीं पड़ता है सन्यासी का अधिकार है आत्मज्ञान के लिए ऐसा तो आया नहीं यहां कर्म करता रहे आत्मज्ञान निर्विशेष आत्मा का ज्ञान हो जाए गृहस्थ आश्रम न छोड़े वहीं बैठा रहे हाँ, गृहस्थाश्रम त्यागने की क्या आवश्यकता है उसका कहना है गृहस्थाश्रम त्याग ना कर्म करना है कर्म करना है तो गृहस्थाश्रम में रहना पड़ेगा इसके मतलब आगे जा नहीं सकता संन्यास में जा नहीं सकता वो संन्यास आश्रम नहीं है ये कहना चाहता है विशेष आश्रम छोटा यदि कहा अकर्मिणा आश्रम का अकर्मिणा आश्रम तरह से आश्रम जो अकर्मी आश्रम है कर्मी आश्रम की तो चर्चा है गृहस्थ आश्रम की चर्चा तो है उसे अन्य आश्रम की चर्चा तो है ही नहीं अकर्मी आश्रम का ठीक है सन्यासी ना इत्यर्थ अकर्मी आश्रम कौन है सन्यासी अकर्मी कौन है सन्यासी का आश्रम नहीं सुनाई पड़ता है न केवलम विशेष आश्रम विशेष आश्रवण मात्र नहीं है सन्यासी आश्रम मात्र नहीं किंतु कर्म के साथ सान्निध्य में यह आया आत्मा भाई ये तुम्हारे आश्रम पूर्व में बृहति शास्त्र नामक कर्म की चर्चा हो गई थी उसके बाद आत्मा भाई तमग्र आश्रय वो कर्म कौन करेगा गृहस्थाश्रम ही करेगा उसी के लिए आत्मा भाई तमग्र आश्रय या केवल आत्मज्ञान और आश्रम में होना है किंतु संविधान है पूर्व में कर्मों की चर्चा है जहां पर आत्मज्ञान की आरंभ करना है उसके पूर्व में कर्म की चर्चा है यहाँ आरंभ में सन्निधानार्थ सन्निधि प्रमाण से सिद्ध होता है न प्रतीति कर्मी का ही अधिकार है आत्मज्ञान गृहस्थ आश्रम का अधिकार है प्रतिबंध कर्म संबंधित तो नियम श्रवण चाहती और कर्म प्रतिद्वंद से कर्म संबंधित तो नियम तो श्रवण है यहाँ पहले कर्म की चर्चा उसके बाद आत्मज्ञान की चर्चा है कर्म संबंधी आत्मज्ञान की चर्चा है यहाँ मान गृहस्थाश्रम में कोई आत्मज्ञान होना ही चर्चा है कर्मचा कहा कर्मचा बृहद शास्त्र लक्षण प्रस्तुत अनंत एवं आत्मज्ञान प्रारंभ थे पूर्व में कर्म की चर्चा की है यहाँ ऐसे आरण्य में उसके बाद आत्मा वही करके आत्मज्ञान का विधान है तो कर्म का सान्निध्य में आया हुआ है तो कर्म करने वाला गृहस्थ ही होता है गृहस्थाश्रम भी हो जाएगा संन्यास आश्रम नहीं है है ठीक है तथा च तद द्वारा कर्म सन्निहित करता है इसलिए क्या होगा उस कर्म के द्वारा यहां आरंभ करेंगे तो कर्म के कर्म के साथ ही कर्म की संगीत होगा ये ज्ञान आत्मज्ञान कर्म ही करता है जो तो कर्मी माने गृहस्थाश्रम कर्म करने वाला गृहस्थाश्रम ही है वही कर्मी के संगीत आत्मज्ञान है तस्माद का तस्मात कर्मी एवं अधिक्रिय थे आत्मज्ञान में कर्मी माने गृहस्थाश्रमी का ही अधिकार है कर्मी तो गृहस्थाश्रमी होता है ये पूर्वाजी ने कहा ठीक है कहते तथो न कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रम यह अर्थ आ गया इसलिए कर्म त्याग स्वरूप तो संन्यास आश्रम नहीं है कर्म करते रहेगा उसको ज्ञान हो जाएगा गृहस्थाश्रम से हो जाएगा ये पूर्वाजी का कहना और भी पूर्वाजी का कहना है पहले कहा था केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन हम मान लेते हैं आपने जो सलिंग प्रमाण दिखाया है मानते हैं कहा था अब उसको परित्याग करेगा नहीं केवल आत्मज्ञान होता भी नहीं जब भी आत्मज्ञान होगा सविशेष आत्मा का ज्ञान होगा निर्विशेष आत्मज्ञान कभी होता है नहीं अहम मनुष्य मनुष्य को विशिष्ट होकर के ज्ञान होता है ना खाली वो खाली आत्मा हूं नहीं बोलता मनुष्यो हम ऐसा बोलता अहम होता है हाँ। पुरुषो हम स्त्री अहम ऐसा बोलेगा बालो हम वृद्धो हम दूसरों को विशेषण चढ़ा के अहम बोलेगा केवल अहम नहीं बोलता कोई केवल आत्मज्ञान होता भी नहीं है ये पूर्वादी आगे जो अंगीकार किया था केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन स्वीकार किया उसको परित्याग करता है होता नहीं ठीक है एवं आत्मविज्ञान केवलाम जो केवल आत्मज्ञान है शुद्ध आत्मज्ञान कर्म असंबंधी निम्न अंगीकृत कर्म असंबंधी जो आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है ऐसा स्वीकार करके तस्या अकर्म निष्ठत्व नहीं वो निराकृत ठीक है वो इसको वो जो कि केवल आत्मज्ञान को विद्या को अकर्मी निष्ठत्व का नियम का निराकरण किया था मैंने सन्यासी का नहीं कर्मी का साथ सन्निधय कहा था इधानीम अब अंगीकार परिचय केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन जो कहा था वो अपना स्वीकार को ही परित्याग करता है अब नहीं केवल आत्मज्ञान तो होता ही खाली आत्मा का ज्ञान कभी होता ही नहीं हाँ। शरीर आदि विशेषण युक्त तो होकर के होता है मनुष्यो हम अहम का विशेषण मनुष्य है वहां पुरुषो हम बालो हम वृद्धो हम ऐसा होता है खाली आत्मा अहम कहां होता है ये पूर्वादि का टीका दो नंबर के आम मान निर्विशेष आत्म विषयाम इत्यर्थ केवल निर्विशेष आत्मा को विषय करने वाला आत्मज्ञान को स्वीकार करके कहा था कर्मी कर्मी संबंधी है गृहस्थाश्रमी संबंधी है कहा था वो किंतु अब उस अंगीकार को प्रत्याग करता केवल आत्म संबंधी ज्ञान होता नहीं कहा एक न च करके भाष्य में कहा न च कर्म असंबंधी आत्मज्ञान कर्म असंबंधी आत्मज्ञान होता ही नहीं आत्मविज्ञानम न कर्म असंबंधी आत्मविज्ञानम न कर्म असंबंधी आत्मज्ञान होता ही नहीं क्यों पूर्ववत अंत्य उपसंगना जैसे पूर्व में सविशेष आत्मा को लेकर के आगे सविशेष में निराकरण हुआ यहां भी ऐसी स्थिति है ऐतरोपनिषद में वैसी चर्चा है बोलता है पूर्ववत पूर्व के समान पूर्व जो कर्म कांड में जो आत्मा आया उसके जैसा कहा वैसे यहां भी है पूर्व अंत्य उपसंगार पूर्व में जैसे पूर्व में आरंभ करके अंतिम उपसंगार किया यहां भी वैसा ही है कैसा है वहां दिखाया था पहले वाले में कर्मकांड विषय में आत्मा को दिखाया पहले क्या यथा कर्म संबंधी पुरुष जो कर्म संबंधी पुरुष होता है सूर्यात्मा सूर्य सूर्य है कर्म संबंधी पुरुष उसका थावर आज सर्व प्राणी आत्मा को उत्तम वो सूर्य को कहा थावर जंगम सर्व प्राणी स्वरूप बताया सूर्य को कर्म संबंधी सूर्य है वो कर्म करके सूर्य लोग जाना है वो आत्मा सूर्यात्मा को बताया है थावर जंगम सर्व उत्तर कहा ब्राह्मण न मंत्र ने कहा ब्राह्मण ने कहा उसी को मंत्र ने भी कहा सूर्य आत्मा जगत स्तुख से आया हुआ है सूर्य थावर जंगम सबका आत्मा है स्वरूप है ऐसा आया सूर्य के लिए सूर्य आत्मा जगत स्तुख से शुक्ल यजुर्वेद में वाक्य आता है ऐतरे आरण्य में भी है थावर जंगम जितने भी जगत है सबका आत्मा है सूर्य ऐसा आया है इत्यादि ना जैसे वहां ऐसे वाक्य आया कर्म संबंधी आत्मा की सूर्यात्मा को लेकर के आगे जाके जगत सारा जगत उस माने वही जगत का आत्मा सूर्य करके दोबारा ब्राह्मण ने कहा था पहले कर्म संबंधी आत्मा को सूर्य बताया था मंत्र भाग आकर के वही होता है सूर्य आत्मा जगत हस्त एक ही बात ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है ऐतृपनिषद जब पढ़ते हैं उसी प्रकार तथा उसी प्रकार ये ब्रह्म ये इंद्र इत्यादि आएगा द्वितीय अध्याय में आएगा यहाँ यही ब्रह्म है यही इंद्र है इत्यादि बोलेंगे ये स ब्रह्म ये इंद्र इत्यादि उपक्रम्य आरंभ करके सर्व प्राणी आत्मत्व इसी को सर्व प्राणी आत्मस्वरूप बता दिया यही इंद्र है यही ब्रह्म है ऐसा बताया जो आत्मा वग्र आशित कहा था उसी को उपसंगार में बता दिया ये सब ब्रह्म ऐसे इंद्र सर्व प्राणी स्वरूप बताया है यथावरम सर्वम तत्प्रज्ञान ये भी आया जब सर्वम प्रज्ञान यत्र माने थावर जितने भी सब प्रज्ञा स्वरूपी है माने अधिष्ठान वाले हैं ज्ञान आत्मस्वरूपी है कहा है यदि उपसंगरिष्यति ऐसा उपसंगार करेंगे इसलिए तथा संगीतोपनिषद ही संगीतोपनिषद में कहा है हम्म, एक नंबर टिप्पणी कहते हैं यहाँ की बातें जो है ना संदक्ष में ऐसे लेना कहते हैं टीका को देख करके लेना बोलते हैं टिप्पणी का ये तो अदराणी अदर आरण्य कस्थ इम उपनिषद टीकायाम इसके आगे जो आरण्यक आएंगे जो इम टीकाया उपनिषद टीका इस उपनिषद टीका में संदोक्ष उक्तेर इवंतम संदोक्ष उक्ति टीका में बताई है कैसे लेंगे पूर्वापर को लेकर के पकड़ना ये तो टीका में बताएंगे इस बात को कहा हाँ, संदक्ष न्याय लगाएंगे टीका में इसको लेकर कहा संगीतोपनिषद ने कहा एतम ही एव बहुरिचा महति उगते मीमांसा के ऐसा वाक्य है इसी आत्मा को बहुरिचा वाले ऋग्वेदी जो लोग हैं महति उक्त नाम के सहस्त्र बृहति सहस्त्र नाम के ग्रंथ में मीमांसा करते हैं इस आत्मा के विचार करते हैं क्या है आत्मा क्या है विचार करते हैं इत्यादि ना कर्म संबंधी तो भूतवा वो कर्मकांड की चर्चा में आया आत्मा कर्म संबंधी आत्मा को कथन करो सर्वेश भूतेषु एतम आचक्ष ये भी वही आया उपसंहार करेंगे सभी भूतों में इसी ब्रह्म का कथन करते हैं ऐसा आया इसी को ही ब्रह्म करके कथन करते हैं आया उपसंहार भी यही आएगा एक ही आया तथा तस्व यो अयम अशरीर प्रज्ञात्मा ऐसा आया आगे उसी आत्मा को जिसको कर्म संबंधी आत्मा बोला था उसी को आगे जा करके उसी आत्मा को योयम अशरीर प्रज्ञात्मा शरीर रहित जो तो प्रज्ञात्मा है कर्म संबंधी नहीं है जो प्रज्ञात्मा यदि उक्त जिसको कहा था उसी को लेकर के आगे मंत्र बोलता है यश असो आदित्य यश असो हृदय एक ऐसा बोलता है ये सब आदित्य एकम तत् विद्या दोनों को एक समझना जो आदित्य में है जो चक्षु में दोनों में एक समझना ऐसा बोलता है ये तत्व बोलता है यहां भी यहां भी वैसा ही है कहा यहाँ जो ऐतृपनिषद पढ़ने वाले हम यहाँ भी कोयम आत्मा ही विक्रम ऋषि लोग बोलते हैं कौन आत्मा क्या है ये शरीर में आत्मा तत्व क्या है यहाँ तो अनेक चीज देखते हैं आत्मा कोयम आत्मा इनमें से इंद्रिया आत्मा है मन आत्मा है प्राण आत्मा है शरीर आत्मा है क्या आत्मा है आत्मा क्या है ऐसा विचार करते हैं कोयम आत्मा ऐसा विचार करके उपक्रम आरंभ करके प्रज्ञात्मत्व में तो अंत में जाकर निश्चय करते हैं ये शरीर प्राण आदि आत्मा नहीं है जो प्रज्ञात स्वरूप जिसमें सारे कल्पित है वो आत्मा ही सिद्ध करते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म ये तो अर्थ करेंगे ना अंतिम महावाक्य आएगा प्रज्ञान को आत्मा निर्धारण करेंगे शरीर आदि को रूप से निर्धारण नहीं करते यहाँ भी प्रज्ञात्म प्रज्ञान ब्रह्म की प्रज्ञान तो प्रज्ञानी ब्रह्म है ऐसा निर्धारण करके दिखाएंगे तस्मात न अकर्म संबंधी आत्मज्ञान इसलिए अकर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं होता पूर्वादि का कहना है टीका देखेंगे फिर समय हो गया है नहीं रखेंगे टीका से आगे करेंगे ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में पाथी प्रतिष्ठिता आविरावीर्मयेति वेदस्य मानस्तः श्रुतं मे मा प्रभासीगणेनादीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवतु अवतु अवतु वक्तारम्